जो लोग ईमान ले आए हैं और नेकी पर कारबंद रहे हैं उन्होंने पहले जो कुछ खाया पिया है उसकी वजह से उन पर कोई गुनाह नहीं है बशर्ते कि वो आइंदा इन गुनाहों से बचते रहें और ईमान रखें और नेक अमल करते रहें फिर जिन चीज़ों से आइंदा रोका जाए उनसे बचा करें और ईमान पर कायम रहें और उसके बाद भी तकवा और एहसान को अपनाएं اللہ احسان پر عمل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے